कहने लगी भला मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है मुझे तो किसी इंसान का हाथ तक नहीं लगा और न मैं बदकार हूं